आ जाए ऐसे काल जो है समस्त ब्रह्मांडों का भक्षण कर जाए नष्ट कर देता ब्रह्मांड की ब्रह्मांड विशेष विशिष्ट नष्ट कर देता है कितनी विशाल सृष्टि का प्रलय काल आ जाती है वो भी काल भगवान से डरता है तो समझो कि परमात्मा जो है ये सब इस काल से भी कितना दुष्कर है धूल के कोटिशम जो दुराधर्श भगवंत और दुराधर्श मने बड़े प्रबल ऐसा प्रबल धूम केतु के समान सैकड़ों धूम को केतु के समान है वो दुराधर्श है भगवान दुराधर्श जैसे कि युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े बहादुर होते हैं तो उनके ऊपर दुराधर्श उनको बोलते हैं कहते इनसे कोई पार नहीं पा सकता है इनसे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है बड़े प्रबल है बड़े शक्तिशाली दुराधर्श मैंने बड़ी प्रबलता है बड़ी शक्ति है जिससे मोर्चा नहीं ले सकता कोई ऐसे ऐसे दुराधर्म भगवान इसी प्रकार के हैं और सैकड़ों कोटियों धूम केतु के समान धूम केतु के दो अर्थ एक तो कुछ तारा धूम केतु कहलाता है जब निकलता है तो उसके काल काल इत्यादि पड़ता है और कुछ तारे को कौन रोकी कुछ तारा निकलता है तब निकलता ही है जब निकलता है तो फिर तमाम उससे उसके बाद जो है अकाल इत्यादि पड़ते हैं ये भी देखे जाता है उसको कोई रोके नहीं दिखता है और धूम केतु अग्नि को भी कहते हैं क्योंकि अग्नि का ही केतु धूम है जब आग जलती है तो ऊपर धुआं का उसका पताका जो है वो धुआं का पताका अग्नि में होता है इसलिए अग्नि को धूम के कहते हैं इसलिए अग्नि जो है वो हो अग्नि सब को समान अग्नि के समान भी बोल सकते हैं अग्नि बड़ी प्रचंड अग्नि कितनी कितनी होती है और दुराग्रह होती अग्नि को भी पार पाना उसको रोक पाना तो जब जलाती तो जलाती चली जाती रोकते नहीं रोकते तब कुछ नहीं रोक नहीं पाते तो ऐसे इसी प्रकार जैसे अग्नि के समान हो उसके समान अथवा धूम के पिछल तारे के समान हो उसके समान भगवान को दोनों प्रकार के आप करा सकते हैं भगवान दुराधर्श है आगे और देखिए भगवान की महिमा इन सबको ये सब जितने भी बताए हैं एक ही स्थान में भगवान में स्मरण करें परमात्मा ऐसा शक्तिमान है ये सब महिमा ये धर्म सब उसके सब एक साथ शक्तिमान है भगवान का एक तो रूप बताया नाम बताए और गाथा बताई ये सब तो अलग अलग है गाथा को तो सुना चुके भगवान के पहले का प्रसंग ये सब भगवान के गुण है जिनके के माने भगवान सर्वशक्तिमान इस प्रकार के तेजवान प्रकाशवान बलवान दुराधर्ष इत्यादि सब भगवान के गुणों के अंतर्गत आते हैं ये सब गुण है फिर लीलाएं जब करते हैं लीलाओं में भी उनके गुण दाता क्षमा इत्यादि जो जो वो उनके सब गुण है लेकिन ये सब उनके भगवान की महिमा के ऐश्वर्य के गुण है भगवान का ऐश्वर्य कैसा है कैसे महिमावान है कैसे शक्तिशाली है कैसे महान है कैसा विस्तार है उनका ये सब उनको आ गया है आगे फिर देखे प्रभु अदाज सत कोटि पताला समन कोटि सत सरित तराला तीरथ अमित कोटि समतावन अखिल पूजन पावनी तिम गिरी कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा स्वयं दीन सत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना शारद कोटि अमित चतुराई को सृष्टि निपुणाई विष्णु को कोटि पालन करता बुद्ध को सत समसंधरता कोटि सत माया को प्रपंच निधाना धार धर्म सत कोटि अहिषा निरपति निरुप प्रभु जगदीशा निरुपम नौपमायान राम समान राम निगम कहे जिम कोटि सत सत्य होत समर विकास यति लघुताल है निज निज मति विलास मुनीस हरि नहीं प्रभु भाव गाह करति कृपाल सपेम सुन सुख मानही राम अमित गुण सागर था सीतारमन् राम रामचंद्र की जय पवन सुत की जय बोलो की जय अब देखिए प्रभु आगाध सतकोटि पताला पाताल आगाध पाताल समुद्र से तात्पर्य नहीं पाताल जैसे जो है वो अतल पितल सुतल तल पाताल इत्यादि लोग कहलाते हैं तो वो पाताल जो है वो अगा मैंने कहाँ तक है कहाँ तक है उनका विस्तार उनको पाना मुश्किल है उस प्रकार से कहते हैं ये सदा भी भगवान है समन को सत कराला और समन के मन यमराज यमराज के समान करोड़ों यमराज के समान भगवान कराल है पहले जो ऊपर कहा तो काल अलग बात है और यमराज अलग बात है तो इसको देखे इनको दोनों को अलग अलग करके बताया कहा कि काल जो है दुरादर्श दुर्ग ग्रंथ है वो और ये समन जो वो वो कराल है ये यमराज की करालता देखो जैसे व्यक्ति को जैसे मरण काल आता है तो यमराज आ गए देने के लिए पत्र फिर ग्रसित होता है कराल को को देख कर यमराज के समान कराल भगवान भी वो कराल भी भगवान अब देखो ये सब विपरीत गुण धर्म लक्षण एक साथ विद्यमान है भगवान मधुर भी है सुंदर भी है कठोर कर्कश भी है कराल भी है फिर यमराज के समान कराल होता अगर भगवान में करालता न हो तो यमराज ही कहाँ पर करालता है आखिरकार सत्य शक्ति तो वहीं से आ रही है परमात्मा ही से कोई तो ऐसा बोले कि परमात्मा तो मृदु नहीं यमराज की करालता अपनी अलग से आ गई ऐसा नहीं सबको एक बार परमात्मा के ही अधीन देखो सब परमात्मा में सारी शक्तियाँ नाना प्रकार के ब्रह्मांड में विश्व में जहाँ कई देवी देवताओं के हैं सब एक साथ परमात्मा में सन्निहित है उसी से सारी शक्तियाँ आ रही है <coughs> तीर्थ अमित को पावन तीर्थ पवित्र स्थल कहलाते हैं वो सब शुद्ध करने वाले हैं तो भगवान स्वयं तीर्थों को भी तीर्थ कोटियों तीर्थ के समान स्वयं भगवान पवित्र है जैसे कोई तीर्थ स्थल में जाए तो वहाँ उसको शुद्धता पवित्रता प्राप्त होती है लोगों से पाप हो जाते थे अब तो नहीं देखने में आता पहले देखते थे पचास साठ साल पहले कि लोगों को पाप लग जाता तो बेचारे पाप को दूर करने के लिए तीर्थ स्नान में जाते थे और पाप धो करके आते थे सब शुद्ध होते थे जो व्यक्तिया का पाप लग गया तो नैमिशारा न जाओ वहां पर नैमिशारा में जो वो हत्याहरण करके स्थान तालाब उसमें स्नान करके आओ तब गाय के मरने पर हत्या लग गई तो उसके तब पाप से मुक्त हो गए तो तीर्थ स्थल जो है पापों से मुक्त करने वाले स्थल लेकिन तीर्थों में भी पावनता कहाँ से आई शुद्धता कहाँ गए वो सब परमात्मा की महिमा है परमात्मा के वास के कारण परमात्मा की पवित्रता से देवता ऋषि मुनि ये सब पवित्र हुए और जहाँ देवता ऋषि मुनि इत्यादियों का वास है वहाँ गोष्ठी पवित्र हुए इसलिए अंततः पवित्रता तो परमात्मा ही से आई तो इसलिए कहते हैं कि तीर्थ अमित कोट समावन पावन और नाम अखिल अगपूत अनुसावन और भगवान के नाम जब हो सभी पापों का नाश करने वाले अगपूर्व पाप कुंजों का नाश करने वाला तो भगवान का नाम ही है भगवान का नाम लो सारे पाप दूर होंगे आपको ये पाप दूर नहीं होगा तो नहीं सारे पाप जो भगवान के नाम नाम का अनुष्ठान करो पाप दूर हो जाएंगे भगवान का एक हजार नाम एक लाख नाम भगवान के जपो बस लक्ष्य जब करने से जो पाप है वो दूर होंगे इतना परिश्रम करोगे पाप हो गया है तो पाप हो गया उसका परिश्रम करके नाम जब के पाप से छुटकारा पाओ इसीलिए भूत बात तो इसी प्रकार का परमात्मा में चित्र क्यों नहीं लगता भगवान की गुणगाथा में मन क्यों नहीं लगता ध्यान में क्यों नहीं लगता मन तो सबका एक उत्तर है कि पाप घिरे इसके कारण तो पाप घिरे हैं तो पाप से छुटकारा कैसे हो अब घिरे हैं तो घिरे हैं अब उनको छुटकारा के लिए भगवान का नाम जपो तो भगवान का नाम जपने में भी मन न लगे तो न लगे तो लगाओ धीरे धीरे हाँ? बार बार करते करते बेमन नाम जप बेमन नाम जपने की भी महिमा बताइए तुलसीदास ने हाँ? एक तो नाम जपने के उल्टा सीधा नाम लेने का भी फल है हाँ? और दूसरा बेमन नाम का भी फल है अगर कभी न हो कुछ न हो तो जब मोहाई आवे तभी भगवान का नाम दे देती बहुत खुश हो नहीं नाम कैसे जन्मे तो भाई जब मोहाई तो आई जाती कभी न कभी जब आ जाती है तो उस समय भगवान का नाम ले हम्म? तो नाम का जब करने से जो है वो हो पापों को दूर होते पाप से जो हो उनका विनाश होता है नाम हिमगिरी कोटे अचल रघुवीरा कहते भगवान जो वो हो हिमगिरी बने हिमालय पर्वत जैसे अचल है कहते भगवान भी इसी प्रकार से अचल है पर्वत की अचलता देखनी हो तो कैसी है पर्वत के समान अचल तो पर्वतों में भी हिमालय पर्वत जैसे अचल दिखाई दे रहा है हाँ, ऐसे समझो भगवान भी अचल है अचल है कि परमात्मा अनादि अनंत होकर के तो सर्वत्र विद्यमान है उसमें गति होती नहीं इसलिए वो अचल है आकाश भी ऐसे अचल है लेकिन अचल का उदाहरण दे दिया पर्वत का हिमालय पर्वत के समान हिमगिर कोट अचल है रघुवीरा और को शब्द सम गंभीरा अब भगवान गंभीर है समुद्र के समान हाँ, गंभीरता देखनी हो तो समुद्र को देखो अचलता देखनी हो तो हिमालय पर्वत को देखो और फिर ये समस्त गुण एक साथ परमात्मा में और देखो ये सब उदाहरण है परमात्मा में सारे गुण तो है ही है लेकिन उन सब गुणों के बाहर जो आपको उदाहरण दिखाई देते हैं उन उदाहरणों को देख करके तब आप देखो भगवान बड़े गंभीर है तो आपको कैसे समझना है गंभीर है तो पहले सागर को देखो करे कैसा गंभीर तब गंभीरता समझ में आवे जो समझ में आते तो कहते भगवान ऐसे ही उसको मल्टीप्लाई करो कोटियों से उस गंभीरता को आपको ऐसी गंभीरता को सिंधु कोट सतसम गंभीरा और काम धेनु सतकोटि समाना सकल कामदायक भगवाना जैसे कामधेन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तो ये कामधेन अपने स्वर्ग में है तो स्वर्ग जब जाएगा तो कामनाएं उसकी जो कामनाएं हैं तो उसकी पूरी होगी जो वो उसे मिलेगा लेकिन भगवान तो ऐसे देने जैसे कोटियों दे उनके समान कामना को पूर्ण करने वाले हैं भगवान का नाम जपो भगवान का स्मरण करो सब कामनाएं पूर्ण होने वाली है भौतिक कामना भी और पारमार्थिक कामना भी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान है काम ध्यान सतकोट समान कामदायक कामदायक मैंने कामनाए पूर्ण करने वाले भगवान है ये काम पदार्थ है भूखे पदार्थ हो जो चाहते हो बड़ी कामना हो भगवान से मांगो उनकी कृपा से ऐसे साधन युक्तियाँ बनेंगी ऐसा मन प्राप्त होगा तो उसको पदार्थ प्राप्त हो जाए सार्ध कोटि अमित चतुराई अब देखो सरस्वती जी में क्या है कि सरस्वती बड़ी चतुर है हम्म? तो जैसे सरस्वती में चतुरता है तो भगवान में चतुरता उससे भी ज्यादा है हाँ, कोटियों सरस्वती के समान चतुर होगा और सरस्वती की चतुरता भी उदाहरण उदाहरण से मानस में वही मिल जाता है जहाँ देखते हैं कि देवताओं ने राजधान बनाने के लिए भगवान राम किसी प्रकार से बन जाए राज्य न इनको प्राप्त होने पावे और तो सरस्वती को भेजा ताकि इससे ज्यादा चतुर कौन होगा तो सरस्वती चली उसने अपनी चतुरता दिखाई और दिखाई कहा जा करके ढूंढ करके तब यहाँ पर बाकी सरस्वती को अयोध्या में इसलिए भेजना पड़ा कि अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जिसके ऊपर जो है किसी देवता का प्रश्न चलता किसी की बुद्धि फेरता कुछ करता किसी को पूछता कुछ लाता किसी को कुछ करवाता कुछ सबके सब वासी जितने सब ऋषि सब बड़े ज्ञानी बड़े सब भगवान के भक्त सब इतनी ऊंचाई करके देवता उनके सामने कुछ नहीं फिर वो देवताओं को उनका पता नहीं चल रहा तो क्या करें यहाँ किससे किससे क्या कराऊ तब तो सरस्वती हो गई तो सरस्वती ने अपनी बुद्धि जलाई सबको देखा सबको देखा तो लगा कि एक मंशा बस ऐसी है जो पूर्व जन्म के संस्कार इसके ऐसे हैं और ये भी कहीं किसी प्रकार से किसी प्रार्थ के कारण अयोध्या में आ है बस इसको तो अब उन्होंने सरस्वती ने तुलसी की बुद्धि फेर दी तो ये सरस्वती की चतुरता है बुद्धि को फेर दे ये मंत्रा जो है वो कैके के साथ में अपने जब नायके में थी वहां से साथ में आई थी और बड़ी इनकी भक्ति की गई थी बड़ा इच्छा आने वाली थी बड़ी मैंने भक्ति भाव से सेवा करने वाली थी तो कई को भी उसके ऊपर विश्वास था कि इस प्रकार इसलिए वो आई थी यहाँ के साथ में अब उसने जो उसी की बुद्धि कर दी अब कई कई की बुद्धि करी जाएगी तो क्या करेगी अब चतुर्था देखो कहे कि इस प्रकार सरस्वती की चतुर्था कितनी सरस्वती है और फिर सरस्वती की चतुर्था ऐसे देखो दूसरे प्रकार से वर्तमान काल में अब तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया रामायण लिख दी इसे किस बल पर लिख दी इसमें जितनी चतुरता की बातें लिखी हुई है कैसा ऐसा दोहा बना दो ऐसा सोठा बना दो ऐसी चौपाई बना दो ऐसा छंद बना दो ऐसे शब्द की योजना कर दो ढूंढ ढूंढ करके ऐसे शब्द कर दो तो किसके बस की बात है सतीन सबको कर दिया सहायता की उनका भी हो रहा जर न चाहने पानी तो भगवान जन वो भगवान की कृपा हो तो उसके हृदय रूपी आंगन में भगवान सरस्वती को नचा दे तो तुलसीदास जी के हृदय रूपी आंगन में सरस्वती नाचने लगी तो ये इतनी महान कविता ऐसी श्रेष्ठ रचना ऐसी उत्तम बन गई तुलसीदास जी भी कहते हैं सरस्वती समान बड़ा चतुर्पन होगा बुद्धिमान चतुर ज्ञानवान तेरे को कोट निपुणाई अब ब्रह्मा जी की महिमा क्या है कि बड़ी निपुण सृष्टि की रचना करते हैं बड़ी निपुणता के साथ संसार की रचना करते हैं अब देखो कैसा विचित्र संसार आकाश बना दिया भाई पृथ्वी सब बना दी पेड़ पौधे कैसे बना दिए कैसे सूर्य बना दिया कैसे चंद्रमा बना दिए कैसे गर्मी सर्दी बना दी कैसे तो उसके ऋतुएं कैसे बदलने लगी और जीवों के साथ साथ कैसे कैसे फिर वनस्पति पैदा होने लगी जीव जंतु कैसे पैदा होने लगे सब सहयोग एक साथ ऐसा बनाया कि जब ये जबकि सृष्टि चल रही है ब्रह्मा जी की चतुर्ता है वो कैसे सृष्टि चल रही है है माया सब लेकिन ब्रह्मा जी ने माया का एक भाग अपने हस्त में लिया और उसके द्वारा ये सृष्टि की रचना कर दी महादौर भी है कोई सृष्टि की रचनी करने वाली थोड़ी है सृष्टि की रचना का वाली माया जो है उतने माया बन के स्वामी बन करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी सृष्टि रचना में जो निपुणता है वो समझ ब्रह्मा जी के इस प्रकार की बना दी अब सूर्य को पृथ्वी से नाप जोग करके इतनी दूर रखा कि न बहुत गर्मी होने पावे न बहुत सर्दी होने पावे हाँ? तो साल में थोड़ी गर्मी बढ़ भी जाए थोड़ी सर्दी घट भी जाए गर्मी घटे बढ़ेगी एक ही जैसी बनी रहे तो रित बराबर बन हो इसलिए घटाना बढ़ाना पड़ा जिससे कि कभी गर्मी हो कभी सर्दी हो तो फिर कभी बादल आवे तो कभी पानी बरसे नहीं तो ये सब तो चलेगा एक ही जैसा हो तो एक ही जैसा बना रहे तो फिर वो फिर उस प्रकृति में जाए एक ही जैसा बना रहे फिर कुछ होता नहीं जैसे बहुत मन सर्दी बनी रहे जैसे कि ठंडा कह है वहाँ पे तो तो सर्दी बनी रहती है उत्तरी ध्रुव में सर्दी बनी दक्षिणी ध्रुव में सर्दी सर्दी बहुत सर्दी तो फिर वहाँ पैदा क्या होगी पतिवती होती है वहाँ वनस्पति होती है वहाँ तो बस वो बड़ा बड़ा जमी हुई है वहाँ क्या होगा सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी कैसे चलेगी तो उन्होंने बड़े कुशलता के साथ में सूर्य को ऐसा रखा और ऐसी पृथ्वी बनाई इतनी दूरी पर रखी और पृथ्वी में भी ऐसी मिट्टी पत्थर वगैरह सब ऐसे बनाए कि फिर उसमें पानी यानी बचे तो कुछ पैदा हो सके हाँ? इतनी धातुएं इतनी उसमें मिट्टी में मिली हुई है इतने साल्ट वगैरह इतने मिनरल्स वगैरह मिले हुए हैं तो उनसे सभी पेड़ पौधे नाना प्रकार के पैदा हों देखो सृष्टि कितनी विचित्र सृष्टि बनी है तो ब्रह्मा जी की चतुरता देखो कि ब्रह्मा जी ने कैसी विचित्र सृष्टि बनाई उनकी बुद्धि की देखो सराहना और फिर ब्रह्मा जी एक ऐसे करोड़ों ब्रह्मा जितने ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मा जी की जितनी बुद्धियां उन सब बुद्धियों से महान बुद्धि परमात्मा की जिसकी की महिमा से सबके ब्रह्मा जी को बुद्धि प्राप्त हुई इसलिए कहते हैं विश्व कोट षष्ट में बनाई और विष्णु कोट समय पालन करता और जैसे विष्णु सृष्टि के पालन करने वाले हैं ऐसे भगवान सृष्टि के पालन करने वाले हैं अब यहाँ तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें तो सृष्टि की रचना करें विष्णु पालन करें तो पालन करें और शंकर जी इसका विनाश करें तो विनाश करें तीनों के काम अलग अलग बटे हुए अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं सबकी सीमाएं हैं ब्रह्मा जी विनाश नहीं करते केवल सृष्टि करते हैं शंकर जी केवल विनाश करते हैं सृष्टि नहीं करते हैं विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं न उसका जो है सृष्टि करे न उसका विनाश करे पालन करे अब इस प्रकार के सबकी अपनी अपनी शक्तियां बती लेकिन परमात्मा में तीनों शक्तियां एक साथ वो बनावे भी बिगाड़े भी हम्म, पालन भी करे तीनों कार्य इस प्रकार परमात्मा के लिए तो सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तीनों शक्तियाँ एक साथ परमात्मा में विद्यमान है तीनों कार्य करती हैं कभी कभी एक उदाहरण देते हैं संत लोग कहते हैं जैसे कि छोटे बच्चे कहीं बालू पड़ी हो मिट्टी पड़ी हो तो बच्चे उसमें सौंदे बनाते हैं मिट्टी में बालू में अपना पैर डाल दो बालू में ऊपर से बालू ठोक दो और पैर धीरे से निकाल लो तो बस वो गोल गोल एक सौंदा बन गया उसको भीतर जो है मकान बन गया उसको गुफा बन गई सब तो बच्चे उस गुफा को बना भी दिया उन्होंने पैर डाल करके मिट्टी ठोक करके अब पैर में बन गया बन के तैयार भी होगा थोड़ी देर तक बना भी रहा तो उसका पालन चल रहा और थोड़ी देर दूसरा पैर मारा तो सब ऐसा ही हो गया अब क्या हुआ ये तो देखो सृष्टि बन भी गई सृष्टि का पालन भी हो गया और सृष्टि का विनाश भी कर दिया अब बच्चों को खेलने में इसमें क्या प्रयोजन क्यों ऐसा करते हैं बच्चे अपने तीनों प्रकार की शक्तियों की एक्सरसाइज करते होते हैं ऐसे भगवान अपनी एक्सरसाइज शक्ति का करते हैं तो सृष्टि का बना देते हैं सृष्टि का कुछ पालन कर दिया थोड़े और उसके बाद प्रलय काल आदि समाप्त कर दिया हो गया भगवान की अपनी शक्ति जो वो हो उसका प्रयोग हो गया न सृष्टि के बनाने में कोई बड़ा भारी उसका प्रयोजन है न उसका कोई फल न उसके विनाश कर देने में कोई प्रयोजन न कोई फल इसका क्यों हुई कैसे हुई क्या हुई अब उसमें जो पढ़े पूछो किसी बच्चे से पूछो तुमने अभी अभी बनाया था उसका घरोंदा आप क्यों बिगाड़ दिया क्यों बनाया था तुमने तो बता सकता हूँ ऐसी खेल है भगवान क्रीड़ा ये लीला है विष्णु कोट संपालन करता रुद्र कोट सत्सन संघरता करोड़ों रुद्रों के समान जो वो संहार करने वाले और धनज कोट सत्संग धनवाना है अब रह गए कुबेर कुबेर प्रयत्नवान हम्म। अब धनवान कुबेर की जितने धन है जितनी संपत्ति है परमात्मा की संपत्ति से सारी संपत्ति नहीं है करोड़ों धनवान जैसे कुबेर हों उनसे भी ज्यादा संपत्ति का लक्ष्मी पति करता है ये लक्ष्मी संपत्ति समझ लक्ष्मी दोनों प्रकार की लक्ष्मी एक लक्ष्मी चल और एक अचल कहते भगवान की दो पत्नी है एक चल संपत्ति दूसरी अचल संपत्ति दोनों को स्वामी भगवान भूल गए भगवान की अचल संपत्ति है और धन जो है संपत्ति वैसी जो वो भगवान की चल संपत्ति और संपत्ति सब अभिपति तय आई है चाहे पृथ्वी हो और चाहे पैसा हो इसमें कोई अपना कुछ नहीं है सब भगवान के लिए तो ये कहते हैं धन तो कोटि सब कुछ धनवान है माया कोटि प्रपंच निधान और भगवान जो है वो जैसे माया एक माया करोड़ों माया हूँ वो जैसे माया प्रपंच रचती है तो भगवान के भगवान का कम प्रपंच रचते हैं भगवान ही की शक्ति से ऊपर माया और माया जो सब प्रपंच सारा प्रपंच भगवान ही मान लो सुनो प्रपंच के माने क्या है पर उन्होंने झूठी झूठी बातें नहीं है कि बड़ा प्रपंच करते मैं झूठी बातें करते ये तात्पर्य नहीं है प्रपंच के माने है आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के जो पंच महाभूत हैं तो उस पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूत और अपंचीकृत पंच महाभूत को पंचीकृत करो तो प्रपंच हो गया पहले तो पंच ही था अब वो पंच का मिल मिल करके प्रपंच हो गया पंचीकरण हो गया उनका और पंचिक पंच महाभूत से पांच ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न हुई और पांच कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई तो वो भी प्रपंच है पांच प्राण उत्पन्न हुए तो वो भी प्रपंच है सब पांच ही पांच की रचना होती चली गई और पांच पांच मिलते चले गए तो प्रपंच का विस्तार हो गया हाँ, पांच पांच पंच महाभूत हुए तो पांच तन्मात्राएं हो हुए शब्द स्पर्श करने में पांच पांच हो गए देखो इस इसी पांच पांच पांच पांच जगत के पांच शब्द स्पर्श कर्मेंद्रिया तो पांच पांच तो पांच ज्ञानेन्द्रिया तो पांच सब पांच ही पांच हो गया और सब पांच पांच मिल करके सारा प्रपंच हो गया प्रपंच में अंतर्बाई समस्त सृष्टि प्रपंच सब मिलाकर तो ये सब प्रपंच है प्रपंच की रचना किसकी है कि माया की ऐसा पर पंच तो भगवान बहुत रच लेते हैं उन्हीं के कारण शक्ति से तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है माया को तो प्रपंच निधाना है प्रपंच के निधाना के मैंने माया के अधिष्ठान रही है हम्म, सारी माया उन्हीं में बात करती है उनसे बाहर की माया की शक्ति है नहीं तो भार धर्म सतकोट अहिंसा और भार धारण करने के लिए करुण शेषनाथ को समाज शेषनाग का जब स्मरण करते हैं तो ये करें कि उनके हजार फल और उनके फल के ऊपर ब्रह्मांड रखा हुआ कुछ भी रखी हुई ब्रह्मांड रखा हुआ तो भार को धारण करने वाले जैसे का नंद का किसी प्रकार से जो है भगवान जो है करुणों का सर्पों के समान ये शेषनाग जितने हैं उनके समान करुणों के समान सब उनकी सारी सृष्टि इतनी विशाल सृष्टियाँ अनेक ब्रह्मांड सब उसी परमात्मा में स्थित है और निर्वध निरतम प्रभु जगदीशा बस इसलिए ये कि उनकी कोई भगवान की कोई अवधि नहीं सीमा नहीं है और उनकी कोई उपमा नहीं है ये सारी उपमा इसलिए दी जिससे कि बुद्धि में थोड़ा थोड़ा कुछ आवे लेकिन कोट कोट इसलिए जोड़ना पड़ा हर के साथ में क्योंकि कोई उपमा है नहीं भगवान की महिमा के सामने ये सबकी महिमा तुच्छ नहीं है इसलिए कोई ऐसे ही समझे कि चुन को तो क्या कह दिया तो भगवान कितने शक्तिशाली है कि मृत कोट सब अब मृत में मल्टीप्लाई किया कोट किया बस इतने ही है भगवान इतने ही है ऐसा नहीं वो तो वहां तक बुद्धि को जाने के लिए विचार करने के लिए कर दिया कि देखो इस प्रकार सोचो भगवान तो उससे भी ज्यादा है उनकी महिमा अपार है इसलिए कभी निर्बद है निर्गम है ऐसे भगवान है समस्त जगत विचार समस्त जगत के स्वामी जगत किसने यहाँ हो गया समस्त ब्रह्मांड समस्त शक्तियाँ समस्त देवता जितने भी हैं सबको मिला करके उसके जो कुछ है उसके भी सबके स्वामी वही है फिर कहा कि गौतम नवमान राम समान राम निगम कहे इसलिए भगवान के समान कौन है कि भगवान ही ब्रह्म के समान एक कौन है कि ब्रह्म ही है कोई परमात्मा जो है अद्वितीय है उसके समान कोई दूसरा नहीं है दूसरा हो भी नहीं सकता और है भी नहीं अगर उनके समान दूसरा हो तो बस सारी महिमा खत्म हो जाए हम्म? वो तो जब कोई दूसरा नहीं उसके समान तभी इतनी समय है कहते हैं जिम जिम कोट शत छो तो समर की कहाती अति लघु कहा है और ये इन सबका जो उदाहरण दिए हैं ये सूर्य और जुगनी के समान है अगर कोई कहे कि अब कोटि कोट बार बार बोले तब ये कोई कहने लगे कि देखो कोट गुणी अगर हो वो शक्ति क्षमक है तो सूर्य के बराबर हो जाए तो कोट गुणी सूर्य के समान तो नहीं हो सकती चमकने पर भी इसी प्रकार जितनी जगह कोट कोट जोड़ा कोटि धर्म के समान कोट भार धर्म के समान कोट शक्तिवादी कोट आजाद कोट सब इस प्रकार सबके साथ में कोटि कोट लगाया तो बस ऐसी समझ लो कोट जुगनियों के बराबर सूर्य से नहीं हो सकता लेकिन कोट कोट जोड़ने से परमात्मा के बराबर नहीं है कहते हैं जिम कोट सद शब्दोत तो समी बहुत अति लघुता है कहते ये तो तुम्हारा उदाहरण कोई इफेक्ट नहीं बैठता करोड़ों जुगनों करार शुरू से बता दिया तो वो तो नहीं की जनता जनता नहीं है इसलिए सारे उदाहरण कोई भी नहीं निरुपम इसलिए भगवान निरुपम क्यों बोला समझ में आ जाए कि निरुपम का तात्पर्य यही है ये भात निज निज मत विलास मुनि शहर ये कथा नहीं इस प्रकार जितने मुनि लोग हैं जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ वहाँ बोलते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार अब वो ऐसे बोलते रहते हैं कि देखो भगवान इतने कोटि भगवान के समान है कोटि विष्णु के समान है अब ऐसी ये मनियों को परमात्मा के लक्षण धर्म बताने के लिए महिमा बताने के लिए ये युक्तियाँ निकालते हैं जिससे कि परमात्मा को कुछ न कुछ बुद्धि में आगे वर्णन करें जैसा कुछ अनुभव करते हैं जहाँ तक कह पाते हैं तहाँ तक कहते हैं अगर मान लो इससे भी ज्यादा कहना हो तो कोई क्या कहेगा कोटि कोटि करके सबसे तुलना करके एक ही जगह में सारी शक्तियाँ बता दें भाई कोई और ज्यादा बुद्धिमान हो कुछ और उसको सरस्वती सिद्ध हो कोई और कुछ कह ले कोई तरीका और निकाल ले ऐसे करके परमात्मा है तो भाई और वो भी कह ले तो लेकिन परमात्मा का पार वो भी नहीं पाएगा ये जो कुछ भी कहेगा वो बात थोड़ी ही होगी परमात्मा उससे कहीं अधिक है प्रभु भाव का आजादी कृपाल सप्रेम सुनिश्चित मान ही लेकिन कहते हैं भगवान की अगर इतनी महिमा सुनाई तो भगवान कहेंगे देखो ये कितने हमारे छुटा करके हमें बता रहा है तो ऐसा नहीं भगवान छुटा करके नहीं मानते ये कहते हैं भाई इसके बेचारे की जितनी बुद्धि है उतना कह रहा है भगवान उतने में प्रसन्न है उतने में प्रसन्न बस ऐसे ही करके बात जैसे समझो जैसे बहुत पुरानी पहले की बात और सौ वर्ष पहले की बात जबकि कभी अंग्रेज लोग ही देश भर में सब जगह डीएम एसपी वगैरह सब यही होते थे जो यहाँ के हिंदुस्तानी नहीं होते थे तो एक बार एक हिंदुस्तानी एक गाँव का एक लड़का जो है हो गया डीएम हो गया अब वो जब अपने गांव में आया अपनी माँ के पास दादी के पास तो उसने उसको आशीर्वाद दिया कहा कि तुम जो हो हाँ, करोड़ा तो उस वक्त अपनी ताकत लगा कर कार्य दरोगा हो बहुत, बहुत बड़ी बात समझी दरोगा के बाद दुनिया में कोई बड़ा होता नहीं जाओ तुम दरोगा हो जाए और वो दरोगा उसके जाने उसके कितने उसके अंदर में काम करते तो लेकिन डीएम तो कोई साथ थोड़ी लगा नाराज खड़े हो गए क्या तुम दरोगा अपना घर को नीचे उसमें जब उतारे देते हो तुम तो हमारा तो प्रमोशन होने के बाद डिमोशन तुम किए दे रहे हमारे से नाराज नहीं हुआ उसने कहा कि जहाँ तक ये समझती थी जहाँ तक उसने कह दिया प्रसन्न हो गए उद्यम से हमको दरोगा ज्यादा ही है अब इनको नहीं समझ में आती समझ सही उसने तो जीवन साहब नाराज थोड़े हो जाएंगे इसी प्रकार से भगवान को अगर इतना सब बता दिया कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं भगवान क्या देखो हमको इतना बताते बात सीखते ही हमें हाँ? तो कोई नाराज थोड़े है भगवान भगवान का भाव राहत बोलने वाले का भाव तो अच्छा ही है कि भगवान की महिमा जहाँ तक बुद्धि थी तहाँ तक बोलने जा रहा था कह पाए कितना कह पाया कुछ उतनी से हम अपने आप भगवान संतोष मान लेते इसलिए कहते प्रभु भाव का आग भाव देखते ही सत्य बात पर यथार्थता उसमें नहीं है वे जितना भी बोला इतना सबने यथार्थता नहीं सत्यता पूरी पूरी नहीं है इसलिए कम से कम भाव तो ही कि भगवान की महिमा ऐसी की सर्वोपरि है सब शक्तिमान है सर्वाधार है सब नियंता है पूर्ण है ये भावना किसके तो मन में है तो अति कृपाल भगवान ऐसे बड़े कृपाल है सप्रेम सुन सुख मानी